विक्रांत इस वक्त काफी असमंजस की स्थिति में था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अगला स्टेप क्या ले हैरान परेशान विक्रांत के दिमाग में इस वक्त हजारों तरह के सवाल उठ रहे थे अभी विक्रांत को सोच ही रहा था कि उसे नैना के पास लगे माइक से एक और आवाज सुनाई देने लगी इस वक्त नैना किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर थी चारों तरफ काफी शोर शराबा मचा हुआ था फिर किसी दूसरी भाषा में उसे नैना की बात करने की आवाजें सुनाई पड़ी जहाँ तक विक्रांत को समझ में आ रहा था की ये लोग या तो तेलुगु भाषा में बात कर रहे थे या तमिल में विक्रांत को सिर्फ हिंदी आती थी और थोड़ी बहुत अंग्रेजी भाषा भी वो बोल सकता था जबकि वो अपने सिस्टम की मदद से साफ सुन पा रहा था कि नैना भी उन लोगों से उन्हीं की भाषा में बात कर रही थी वो भी तेलुगु या तमिल जैसी कोई भाषा बोल रही थी दो चार शब्द बात करने के सुनाई देने के बाद वहाँ से किसी के गिरने और चीखने की आवाजें आने लगी वहाँ नैना किसी के साथ मारपीट कर रही थी ध्यान से सुनने पर विक्रांत को समझ आया कि नैना किसी पंचिंग बैग पर मार रही थी इस वक्त रात के लगभग साढ़े नौ बज रहे थे और नैना अभी मार्शल आर्ट्स की क्लास में थी वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही थी ये जानकर तो डर के मारे विक्रांत के रोंगटे खड़े हो गए उसे एक पल में नैना के साथ हुई फाइट याद आ गई जब विक्रांत ट्रेनिंग सेंटर में नैना से भिड़ा था तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया था भले ही नैना उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी थी लेकिन फिर भी विक्रांत उस एक्शन सीन को कभी नहीं भूल सकता बधाई अचानक से विक्रांत के अदृश्य शक्ति के सिस्टम का मैसेज आ चुका था विक्रांत का आज का सक्सेस रेट पिचासी प्रतिशत का था और उसे एक गिफ्ट भी मिला था पचासी प्रतिशत विक्रांत चौंक उठा उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उसका सक्सेस रेट इतना ज्यादा हो सकता है वो अपने पिछले दिन को याद करने लगा उसे अदृश्य शक्ति द्वारा पानी और पहाड़ कोडवर्ड दिया गया था पानी का मतलब लड़की से था और विक्रांत ने इस कोडवर्ड के चलते नैना के साथ काफी वक्त बिताया था लेकिन उसे पहाड़ कोडवर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा था आज पूरे दिन भले ही विक्रांत अपने काम में लगा हुआ था लेकिन फिर भी उसे कोई खास सफलता तो नहीं मिली थी फिर आखिर सक्सेस रेट पचासी प्रतिशत तक कैसे पहुंच गया उसे लगा कि हो सकता है मुझे पता नहीं चल रहा हो और मैं अपना काम सही दिशा में कर रहा हूँ हो सकता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में जा रही हो इसी सोच के साथ विक्रांत ने अपने गिफ्ट को खोला आज उसे गिफ्ट के तौर पर एक सिग्नल एम्पलीफायर दिया गया था ये गिफ्ट कुछ खास नहीं था ये तभी काम आता है जब आप किसी ऐसी जगह फंसे हो जहाँ ढंग से नेटवर्क नहीं पकड़ता है जैसे कि जब पिछली बार विक्रांत सुरंग में फंसा था तब उसने इसी एम्पलीफायर की मदद से अपने फोन के सिग्नल रेंज को बढ़ाकर पुलिस को अपनी लोकेशन सेंड की थी ऐसी सिचुएशन में ये डिवाइस बहुत काम आ सकती है इसके अलावा ये किसी काम की नहीं है लेकिन अभी विक्रांत इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा था उसका पूरा दिमाग तो इस बात पर लगा था कि वो अब सारी सच्चाई जानने के बाद नैना के साथ काम कैसे करेगा एक बात तो पक्की है कि वो अभी किसी भी हालत में नैना को ये नहीं जाहिर होने देगा कि उसे सारी सच्चाई पता है और दूसरी बात उसके दिमाग में ये आ रही थी कि क्या मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ या नहीं और अगर मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा तो फिर कल से कैसे काम करूंगा क्या करूंगा एक बात यहाँ विक्रांत को और समझ में आ गई थी कि नैना उसके साथ इसलिए नहीं काम करने को तैयार हो रही थी क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहती थी दरअसल नैना खुद पुष्कर और चेतन को पसंद नहीं करती है इसलिए विक्रांत को अपना मोहरा बनाना चाहती थी सच में ये लड़की बहुत चलाक है ये मुझे यूज कर रही है फिर भी मुझे ऐसा दिख रही थी कि ये मेरी मदद कर रही है इसके बाद विक्रांत थोड़ी और देर तक नैना की बातों को सुनता रहा वहाँ मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने के बाद नैना अपने घर आ गई उसके बाद उसने ज्यादा किसी से फोन पर बात नहीं की उसने एक दो लोगों से फोन पर बात की थी लेकिन नॉर्मल बात ही थी घर पहुंचने के बाद नैना बाथरूम में नहाने के लिए गई हुई थी सो वहां से पानी के गिरने की आवाज विक्रांत को सुनाई पड़ रही थी इस वक्त विक्रांत के दिमाग में यह खुराफात भी आया कि काश मेरे पास एक सर्विलांस कैमरा होता तो मैं उसे इस कमीनी के पास लगा देता इसे नहाते हुए देखता <laughs> अंत में विक्रांत ने फिर से केस के बारे में थोड़ा सोच विचार किया उसने अपने अगले दिन की प्लानिंग की और फिर धीरे धीरे उसे नींद आ गई उस रात सपने में भी उसने नैना का भयानक हंसता हुआ चेहरा देखा उसने सपने में देखा कि वो नैना को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था नैना ने उसे जो हैंड वॉच दी थी वो विक्रांत ने अपने हाथ में पहना हुआ था वो नैना को लगातार किस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ना जाने क्यों उसके होटल तक पहुंच नहीं पा रहा था फिर विक्रांत सपने में ही नैना के कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा और तभी उसकी नींद खुल गई अब तक भोर हो चुकी थी विक्रांत उठकर बिस्तर पर बैठ गया और तभी उसे अदृश्य शक्ति द्वारा दिया गया कोडवर्ड मिल गया आज उसे फिर से पानी और पहाड़ कोडवर्ड दिया गया था लगातार दूसरे दिन भी उसे सेम कोडवर्ड मिला था विक्रांत को याद आया कि जब उसने योगेंद्र चोपड़ा को करजत में सुरंग के भीतर जाकर पकड़ा था तब भी उसे कई दिनों तक लगातार यही कोड वर्ड मिल रहा था और अब भी ऐसा ही हो रहा है इसका मतलब आज कुछ बड़ा होने वाला है या एक या दो दिन में ही मुझे कोई बड़ी सफलता हासिल होने वाली है अगर ऐसा है तो फिर मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ और मुझे इसी दिशा में काम करते रहना चाहिए इसी सोच के साथ विक्रांत आज काफी उत्साहित हो रहा था वो फटाफट सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया वहाँ पहुँच उसे पता लगा कि अभी नैना इस टीम हेड पुष्कर से कोई बात नहीं की है इसलिए वो सीधे ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में अपने टाके कटवाने के लिए चला गया वहाँ विक्रांत ने अपने सिर में और कंधे पर लगे सारे टाके कटवा दिए इसके साथ ही उसने सिर में बंधी पट्टी भी खुलवा दी अब वो काफी हल्का फील कर रहा था मानो उसके सिर से बहुत भारी बोझ उतर गया हो अभी विक्रांत अपनी पट्टी निकलवाकर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से बाहर निकल ही रहा था कि उसके पास नैना की कॉल आई नैना ने उसे मिलने के लिए बुलाया था टाके कटवाने के बाद वो सीधे ही ऑफिस के बाहर गेट पर खड़े होकर नैना का इंतजार करने लगा थोड़ी देर में नैना अपने सफेद रंग के पजेरों में आती दिखाई पड़ी उसे देखकर तो विक्रांत का खून खोल उठा लेकिन उसे पता था कि इस वक्त उसे सब्र से काम लेना है वो तुरंत ही नैना की गाड़ी में सवार हो गया और दोनों प्लानिंग के हिसाब से काम में जुट गए इस वक्त विक्रांत के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था आखिर में वो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं सका और उसने नैना से पूछ ही लिया अच्छा नैना ये बताओ जब तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट से गाड़ी मिली हुई है तो फिर तुम अपनी गाड़ी से क्यों चलती हो आदत हो गई है नैना ने मुस्कुराते हुए कहा और दूसरी बात यह कि मेरी गाड़ी में सर्विलांस सिस्टम लगा हुआ है सो ये मेरे लिए सेफ रहती है अच्छा विक्रांत ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा जबकि उसे सच्चाई पता थी वो अच्छे से जान रहा था कि नैना झूठ बोल रही है अच्छा ये सब छोड़ो ये बताओ आज शुरू कहाँ से करना है नैना ने विक्रांत की तरफ आंखों से इशारा करते हुए कहा विक्रांत ने नैना के आगे चार लोगों की फोटोग्राफ रख दी और फिर फोटोग्राफ्स की तरफ इशारा करते हुए बोला ये चार मैंने कल पता किया था ये चारों सबसे ज्यादा सस्पेक्टेड हैं हमें इनकी सारी डिटेल निकालनी है हम्म ठीक है तो फिर पहले से शुरू करते हैं नैना ने सबसे ऊपर पड़ी फोटो को अपने हाथ में लेकर उसे ध्यान से देखते हुए कहा ना दूसरे से विक्रांत ने वो फोटो नैना के हाथ से खींच ली और दूसरी फोटो उसके हाथ में पकड़ा दी अशोक क्यों नैना ने फोटो के नीचे लिखे नाम को पढ़ते हुए पूछा क्योंकि ये आदमी करजत माइंस में बहुत पहले से काम कर रहा है जब गजेंद्र को उस खदान का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था उससे भी पहले से और सबसे खास बात यह है कि ये आदमी माइंस के भीतर विस्फोट करने वाली टीम का हेड था और इसका घर भी पोसारी में है जहाँ गजेंद्र था तो हो सकता है कि इसे किडनैपिंग केस के बारे में काफी कुछ पता हो ओ सच में ये ये बम एक्सपर्ट था नैना ने चौंकते हुए पूछा तो तो फिर ये बात तो हमें तुरंत ही टीम लीडर से बतानी चाहिए तुमने बताया क्यों नहीं अभी तक तुम तुम टीम बी की लीडर हो ना तो जाओ बताओ नैना विक्रांत के बोलने के टोन से ही समझ गई थी कि वो गुस्से में है उसे लगा कि विक्रांत पुष्कर से चिढ़ता है इसलिए उसने कुछ बताया नहीं सो बिना किसी सवाल के उसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर दोनों करजत पहाड़ी की तरफ निकल पड़े